और अपना हाथ ना अपनी गर्दन से बांधा हुआ रखो कि कंजूस बन जाओ और ना उसे बिल्कुल ही खोल दो वरना मलामत जदा थके हारे रह जाओगे